मोहतरम दोस्तों बुजदिल आदमी को कोई अपने घर का चौकीदार रखता है तो क्या खुदा नबी को बना बुजदिल आदमी को नबूवत का नबूवत की अमानत दे देगा कोई आदमी सुनाया करता था कि एक शख्स मिर्जा को कत्ल करने के लिए पहुंच गया कुल्हाड़ी लेके मिर्जा से कहा बाहर निकलो बाहर नहीं निकल रहा था तो किसी ने उसे कहा कि बाहर क्यों नहीं निकलते हो कहा मुझ पे वही आई है یا یو ہن اندر رہیو باہر نہ جائیو